वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाए छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है जो जम्बूदीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता तथापि नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता वह भाग्यहीन है इस संसार में पाप से दूषित चित्त वाले मनुष्य को उत्तम गति देने वाले नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन नदी है जो पाप हारिणी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते उनके पाप राशि नष्ट हो जाती है जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन कर सकता वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी एवं भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करता उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं यदि वेदोरीय पर्वत एवं अमर कंटक पर भाग भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओमकार जी विद्यमान है तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते वहाँ संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिद्धलिंग सिद्धेश्वर योगेश्वर और शशि भूषण है नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर एवं कपिलेश्वर लिंग है उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं जो मनुष्य सदा पुष्प धूप आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन्हीं लिंगों की अर्चना करते वे नरक से छूटकर शिवलोक को जाते अनंग तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बताया है पापी पुरुषों को यमराज ने यह बताया कि जो लोग गोदान स्वर्णदान तिलदान अन्नदान जलदान सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते भगवान शिव के वचनानुसार जे वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं सम्मान को अपमान ने प्रियजनों के सहयोग को वियोग ने और जीवानी को बुढ़ापे में ग्रास लिया है सारस दुख के उपद्रव से युक्त है जब बाल पक जाते हैं शरीर में झुर्रियां पड़ जाती तब वृद्धावस्था में जर्जर शरीर होकर विद्वान मनुष्य क्या कर सकता है स्त्री और पुरुषों का यवन तथा रूप जो एक दूसरे को बहुत ही प्रिय लगता है जरा ग्रस्त होने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाता है तथा हो जाने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाने पर अपूर्व शिथिलता से युक्त देखकर भी संसार से विरक्त नहीं होता उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है जराग्रस्त मनुष्य अशक्त होने के कारण पत्नी पुत्र आदि बांधवों तथा दुराचारी सेवक द्वारा भी अपमानित होता है वृद्ध मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही धर्माचरण करे युधिष्ठर शरीर में वात पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है तथा वात पित्त कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है इसलिए अपना यह शरीर सदा रोग का ही आश्रय है ऐसा जानना चाहिए जब वात का प्रकोप होता और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते इस कारण में शरीर में मृत्यु मृत्यु के समय साधन सौ से भी अधिक है इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और शेष मृत्युएं अगंतुक मानी गई हैं जो अगंतुक होती हैं वे औषधि सेवन तथा जब होम और दान आदि से शांत हो जाती हैं परंतु काल रूप मृत्यु किसी उपाय से भी शांत नहीं होती विष और मध आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है अतः इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि न करें अनेक प्रकार के रोग कष्ट सर्प आदि जीव विष और मारण आदि के प्रयोग ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु द्वार है यदि मनुष्य का मृत्यु काल आ जा पहुंचा उस समय रोग सर्प आदि से पीड़ित हो तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि तप दान मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं है मृत्यु के समान मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं है तथा समस्त देहधारियों के लिए मृत्यु के समान दूसरा कोई काल नहीं है युधिष्ठर श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री पुत्र मित्र राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नाना प्रकार के संपूर्ण सुख को मृत्यु सहसा छीन लेती है राजन भाई बंधु आदि के रूप में जो यह दुष्तर संसार है इसका तुम्हें यंकिचिन परिचित किया गया है यह सब परिमाणी तथा नाशवान है परिणामी नाशवान होने पर काल का भोजन है ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए नर्मदा सब दुखों का निवारण है और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है जो जिन कामनाओं को पाना चाहता नर्मदा देवी उसे वे सभी वस्तुएं दे देती हैं मातंग मृगवन और वरहत तीर्थ की महिमा मार्कंडे जी कहते हैं महिष्मतिपुरी के पश्चिम अशोक वनिका नामक एक पापहारी तीर्थ है जो सब प्रकार के शोकों का विनाश करने वाला है वह स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देव का पूजन करें वहाँ मातंग मुनि का आश्रम है जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध धूप चंदन नाना प्रकार के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वहाँ भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती वह रूप और सौभाग्य से संपन्न पति प्राप्त करती है युधिष्ठिर पूर्व काल की बात है मातंग नाम से प्रसिद्ध देवर्षि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय लिया था मैं विरक्त और भिक्षु हूँ ऐसा विचार करके भी अशोक वनिका में गए और जटा कव धारण करके कंद मूल फल का आहार करते हुए एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे सब मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय इस षड्यक्षर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे उनकी उस पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा सुब्रत इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो तुम वर मांगो मातंग बोले देवेश्वर यह तीर्थ मातंग के नाम से प्रसिद्ध हो इसमें चंडाल शोपच आदि पापियों ने जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहे हैं जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मांगतेश्वर लिंग का पूजन करे उसका संसार बंधन छूट जाए मातंग मुनि का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले मुने मेरे प्रसाद से यह सब कुछ तुम्हारे इच्छा अनुसार होगा ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ उमा महेश्वर धाम को चले गए चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है उसमें वहाँ जो कुछ दान होम आदि किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है उस तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुड़ सतु का पिंडदान देने से चौदह इंद्र के स्थित काल तक पितरतृत रहते हैं अशोक वनी का नाम से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है वह नर्मदा के उत्तर तट पर विद्वान है विष्टर अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का वर्णन करूंगा महाराज वहाँ एकादशी को स्नान करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अर्चन करें और निराहार रहकर रात बितावे प्रातः काल होने पर फिर गंध और पुष्प द्वारा मृगवन में श्री हरि की पूजा करें तो वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य होता है तिल और जल की अंजलि देने से पितृ को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है वहाँ उत्तम वराह तीर्थ है जहाँ वह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था और वह अमित तेजस्वी श्रीहरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था जो पतिव्रता नारी वासोपवास व्रत करके वहाँ विधि पूर्वक स्नान करती है वह विष्णु धाम को जाती है संसार से मुक्त होने के लिए पाप और पाखंडी जनों के त्याग तथा शिव एवं नर्मदा के आश्रय लेने का उद्देश्य मार्कंडे जी कहते हैं राजन नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है वहां स्नान करके मनुष्य जिस दिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता वहीं संगम पर आंगरेश्वर देव स्थित है जहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं इसलिए पाप कभी नहीं करना चाहिए जिस देश में तथा जो जैसी आयु के द्वारा मनुष्य शुभ शुभ कर्म करता वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है अतः अपनी शक्ति के अनुसार याचकों को निरंतर दान देना चाहिए